मनुष्य का जन्म लेता है प्रश्न है आपके सामने मनुष्य का जन्म क्यों लेता है जन्म का कारण क्या है गंभीर प्रश्न है उसके जन्म का कारण क्या है मोक्ष वाले का उसका उत्तर यह है मोक्ष प्राप्त जीवात्मा के भी पाप पुण्य बचे हुए रह जाते हैं ध्यान से सुन लो क्या समझे आप योगाभ्यासी समाधि लगाता है पुण्य ही पुण्य करता जाता है प्रचार भी करता है वेदों को पढ़ता पढ़ाता है किसी का विभिन्न काम करता है पर चलते फिरते खाते पीते कीड़ा मर गया मकौड़ा मर गया वो हो गया पाप से तो उससे भी हो जाता है या नहीं होता ध्यान दो मोक्ष से लौट करके मनुष्य जन्म का कारण उसके पाप पुण्य दोनों शेष रह जाते हैं उन्हीं के आधार पर फिर मनुष्य जन्म लेता है वो कुछ नहीं करेंगे उस समय लंबा प्रकरण है उस समय उनका फल नहीं हो सकता वो योगी बन चुका है उनका कर्मों का फल साधारण मनुष्य योनि एक प्रसंग आया है याद रखिए पत्रिकाओं में भी निकला था कि जीवात्मा जब मोक्ष में चला जाता है तो फिर जन्म होता है तो उसका कारण क्या है किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा ध्यान देना पर असली उत्तर यही है ऋग्वेद का भाष्य करते समय महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने यही बात लिखी है बताओ कहां लिखी है बोलो ऋग्वेद का भाष्य करते समय स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये लिखा है कि मोक्ष लौट के आने वाला जीवात्मा मनुष्य जन्म क्यों लेता है उन्होंने कहा उसके पाप और पुण्य दोनों बचे हुए रहते हैं उन्हीं के आधार पर मनुष्य जन्म लेता अब हम विराम की ओर चलेंगे आप थक भी गए होंगे सुनते सुनते सुनते सुनते अब तैयारी करनी है युग युग से जीव भटकता परिचैन कभी न पाया युग युग से जीव भटकता परिचैन और पुरुष भी सीख लो आनंद से जीना कैसे आता है यही सिखाया जा रहा है मन जीत लिया जिसने जीना तो उसी का है मन जीत लिया जिसने जीना तो उसी का है मन जीत लिया नाम दिया जाता है और पत्रक पंडित जी अब जो सज्जन प्राय प्रातः काल नहीं आ पाते ऐसी स्थिति में वो हमारे व्रत पत्र जो है अभी से लेके जाइए और प्रातः काल देंगे और विचार पूर्णियों को